जो लोग ईमान लाए और उनके दिल अल्लाह ताला की याद से इत्मीनान पाते हैं सुन लो अल्लाह ताला की याद ही से दिल इत्मीनान पाते हैं